ूलहिरहे सदा रहि एक सङ्ग गज पञ्चानग मृग सहज दयासराये सभनि परस्परीति बढ़ाई, खग मृग नाना वृन्दा अभय चरहि बन शीतल सुरभि पवन बह मन्द गुञ्जतयलि मन्दा वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं हाथी और सिंह वैर भूल कर एक साथ रहते हैं पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा दिया है पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं लटा बेटप लता बेटप मांगे मधुचवहे मन भाव तो पय श्रवहे शशि संपन्न सदा रह धरणी कृत कै करणी प्रगति गिरिण विविध मनिखानी जगदा भूप भूप जानी सरिता सकर सकरहि बि साद सुख सुखकारी बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं गौवें मनचाहा दूध देती है धरती सदा खेती से भरी रहती है त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी सागर ने जमर जा रहे डारहे रत्न तटन नर लहे सरसि जल सकल तडागा अति प्रसन्न दश दिशा विभागा मिथुमहि पूरमयूखनहि रवि नहि काज मागे बारिद देह जल रामचंद्र के राज समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं कोटिन बाजे मेध प्रभु के दानयन कर निजन कह दीन श्रुतिप्रतिपलक धर्मधुरन्धर गुणातीतयरु भोग पुरन्दर पतन कोल सदा रह सीता शोभाणि सुशील जानते कृपा सिंधु प्रभुताए सेवति चरण कमल मन लाए प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले धर्म की धुरी को धारण करने वाले प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं वे कृपा सागर श्री राम जी का प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है यद्यपि गृह सेवक ने विपुल सदासेवा विधिगोणि निजकर गृहपरे चरजाकरये रामचन्द्रया यशो अनुसरये वृद्धि कृपा श्री से वाविधि जयनये कौशल्यादि सासुगृहमाहि सेवहि शबनिहि मानि मदनाहि कुमारमा ब्रह्म मादिवन्दिता जगदम्बासन् तति मनिन्दिता कृपा सागर यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेव सेव की विधि में सेवा की विधि में कुशल हैं तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी के आज्ञा का अनुसरण करती हैं कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है शिव जी कहते हैं हे उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है जासु कृपा कर कटाक्षुसुर चाहत चितवन सोये राम पदारविन्दरते करते सुभा वही कोई देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार में प्रीति करती हैं